मौनम वरिष्यामि सत्यम वरिष्यामि तन्मावतु तैतृय परिषद द्वितीय अध्याय अवतरण के ऊपर विचार चल रहा है पूर्व अध्याय का निष्कर्ष कुछ बताया जा रहा है पूर्व पक्ष ने एक शंका उठाई थी आत्मा सर्वगत है उससे भिन्न वस्तु भी नहीं सर्वात्मा है तो वो कैसे प्रवेश करेगा प्रवेश करने के लिए परिचिन्न वस्तु होना चाहिए अपने से भिन्न वस्तु भी होना चाहिए जहां प्रवेश करे तो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु भी नहीं है और दूसरा ये भी नहीं वो व्यापक भी है तो कैसे प्रवेश होगा ये प्रश्न उसका है तो उसके उत्तर में सिद्धांत कहते हैं आपका प्रश्न बहुत कम हो गया मैंने प्रतीयमान अर्थ को लेकर के प्रश्न है तो और भी और भी बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं विवक्षित अर्थ लेना हो तो आत्मा एकत्व में कोई खर्च नहीं आया है सारी सृष्टि होने पर ये उत्तर देना चाहते हैं फिर टीका है इसकी किम प्रतीयमानार्थे असंगतत्व विवक्ष विवक्षता सिद्धांत ने तो विकल्प खड़ा किया जैसा प्रतीत हो रहा है उसमें असंगत है अथवा विवक्षित अर्थ में असंगत है वक्तुम इष्ट विवक्षित है श्रुति को कहना जो इष्ट होगा उसको विवक्षित कहते हैं आद्य सर्वस्यापि असंगतार्थक लेना सर्वस्यापि अपरामनुषा प्रथम पक्ष लेना है यथा जैसे प्रति प्रतीयमान अर्थ उसमें तो सारे यहां जितने भी क्रियाएं बताई सब अप्रामाण्य होंगे असंगत होंगे इसलिए सब अप्रामाणिक होंगे केवल ये दो ही बातें अप्रामाणिक हैं और होंगे न तो वेद से तदयुक्तम वेद को अप्रामाण्य घोषित करना ठीक नहीं होगा इसलिए कहा सिद्धांत ने शंका उठाई थी ननु अति अल्पम इदम चौद्यम आपका ये जो प्रश्न है बहुत छोटा बहुत कम है सिद्धांत का नाम बहुत से अत्र चोदित इस विषय में प्रश्न बहुत आए हाँ, प्रतीयमान अर्थ को लेकर के असंग प्रथा को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं अकर्वासन इक्षिता माने इंद्रियादि कुछ भी नहीं चक्षुरादि नहीं और देखना कैसे हो सकता है ये भी तो प्रश्न उठता है अनुपादाय किंजन लोकान अस्थिरता अभ्य पुरुष और कुछ भी लिए बिना जल से एक पुरुष बनाना हम्म, और उसमें हस्तपाद आदि युक्त कर देना ये भी तो असंगति होगा इत्यादि ठीक से देखना चक्षुरादि कर्ण ईक्षण प्रसिद्धम लोक में प्रसिद्ध है चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा ईक्षण होता है विचार किया जाता है देखा जाता है किंतु ये प्रसिद्ध है और यहां है ही नहीं ऐसा उसके चक्षुराधिकरण नहीं है तो कैसे विचार किया होगा उसने सईक्षता कैसे होगा ये भी तो प्रतिमान अर्थों के लेकर असंगत है होगा तृष्णा मृदादि उपादान बताएव सृष्टित्व सृष्टि वही कर सकता है कोई उपादान कारण भिन्न हो कुलाल घट बनाता है मिट्टी अतिरिक्त होता है उससे बनाता है परमात्मा के पास कुछ भी नहीं है तो कैसे जगत बनाएगा सलोकान अस्त्री जगत कैसे होगा ये भी एक प्रश्न उठता है मैंने प्रतीयमान अर्थ को लेकर के और अस्ताभ्याम एवं समुद्धरण और उसको निकालना हाथ से होता है जल से पुरुष को निकाला ऐसा आ तो निकालना क्या होगा हाथ से होगा हाथ है नहीं उसके पास कैसे निकाला होगा ये भी एक प्रश्न है हस्ताभ्याम में समुद्धर्म समुद्धर्म समुत्थान है और उसको संयोजित करना भी हाथ का काम है जल से निकालना भी और उसे अवयव युक्त कराना ये भी तो हाथ का काम है हाथ है ही नहीं परमात्मा में कैसे हुआ होगा ये भी एक प्रश्न उठ सकता है अच्छा और अशरीर से तद असंगम ये सारे काम अशरीर परमात्मा पे संभव नहीं है तो आप इतने छोटे से प्रश्न क्यों कर रहे हैं बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए प्रतीयमान अर्थ को लेकर के और भी है शस्त्रादि ना मूर्ति न विदार मुख फाड़ करके इंद्रिय गोलक बनाया तत्त फाड़ दिया वहां वहां ऐसा कहा किसी चाकू आदि से फाड़ा जाता है शस्त्रादि के काम होता है उसके बाद शस्त्र आदि कुछ भी नहीं हाथ भी नहीं कैसे फाड़ा होगा ये भी एक प्रश्न उठता है मुख आदि का विदारण कैसे किया ये भी है शस्त्रादि नाम मूर्त एकदम विदारण शस्त्रादि जो होते हैं मूर्त पदार्थ होते हैं उसके द्वारा विदारण होता है फाड़ा जाता है गोलक कैसे बनाया होगा उसने इंद्रिय गोलक ये भी एक प्रश्न है न तो अमूर्ताध्यानाथ केवल चिंतन मात्र से अमूर्त वस्तु से कैसे वह हाथ पैर आया गोलक कैसे बना इंद्रिय गोलक कैसे बने एक प्रश्न होगा और मुखादिव्य अग्नियादि उत्तर हाँ, मुख से अग्नि उत्पन्न होगा मुख जलना चाहिए यह भी एक प्रश्न उठा क्यों नहीं जला होगा यथाश्रुत अर्थों को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हैं अग्नि मुखादिव्य आदि तस्य दाहादि से उस मुखादि का दाहादि होना चाहिए यह भी प्रश्न उठेगा मूर्त अन्य संयोजन कर तुम सक्यम असनायादि और अमूर्त असनायादि अमूर्त पदार्थ है भोग प्यास अमूर्त पदार्थ है अच्छा। वो भूख प्यास से जोड़ दिया कहा हुआ है और जो जोड़ने वाला ये अमूर्त है जिसको जोड़ना है वो अमूर्त है कैसे जोड़ा होगा भूख प्यास को जोड़ने वाला परमात्मा है वो भी अमूर्त पदार्थ है और भूख प्यास भी अमूर्त कैसे जोड़ा होगा ये भी है मूर्त से अन्य ना मूर्त वस्तु अन्य होना चाहिए जोड़ने वाला मूर्त वस्तु होना चाहिए और मूर्ते ना और क्या संयोजन कर तुम सक्यम मूर्त इसका मूर्त व्यक्ति के द्वारा संयोजन किया जा सकता है न तो अमूर्त तक सत्य न असमायाद है अमृत से अमूर्त पदार्थ है असम भोग प्यास उसको जोड़ना भी संभव नहीं कैसे जोड़ा होगा ये भी प्रश्न उठेगा और अग्नि आदि नाम सरित्र सिद्ध पूर्वम प्रार्थना है अयोगा अग्नि आदि देवताओं ने प्रार्थना की हमारे लिए शरीर बना दो जिसमें बैठकर हम अन्न भक्षण करें ऐसा अन्नम अदाम आया तो शरीर में बैठे बिना कैसे उन्होंने प्रार्थना की होगी शरीर विशिष्ट व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है उस काल में उनके पास शरीर ही नहीं है शरीर बाद में बनना है कैसे प्रार्थना की होगी अग्नि नाम शरीर सृष्टि पूर्वम शरीर सृष्टि से पूर्व अवस्था में अग्नि देवताओं का जो दिग्वाल देवता है उनका प्रार्थना या अयोग प्रार्थना होना भी संभव नहीं है आयोग पाठ में अयोग पाठ तदा गवादी शरीराभाव मान सृष्टि बनने से पहले शरीर बनने से पहले उसका गाय आदि आकृति है ही नहीं तो कैसे प्रार्थना की होगी परमात्मा से उन्होंने स्वयं च आना है अयोग और दूसरी बात परमात्मा ने उनके लिए गाय लाया अश्व लाया मनुष्य शरीर लाया कैसे लाएगा शरीर नहीं कैसे लाएगा वो पकड़ करके शरीर वाला पकड़ेगा ये भी प्रश्न उठता है <clears throat> तेषाम अश्वरत्वाद अमृतत्वाद प्रवेश अनुपत्ति कहा <clears throat> दूसरी बात है देवताओं का प्रवेश होना भी संभव नहीं है उस काल में शरीर में बैठे बिना शरीर में कैसे प्रवेश किए होंगे ऐसा हम देवा देवा अशीर अशिरत्व शरीर है नहीं उस काल में और अमूर्त है हाँ। तो उस स्थिति में कैसे प्रवेश किया ये भी प्रश्न हो रहा है अन्न से अचेतन से पलायन अनुपत्ति अगर अन्न भागा जब अन्न की सृष्टि की थी तो अपने अन्नाद को देख करके भागा आया कैसे भागा होगा अन्न से अचेतन से पलायन अनुपत्ति अन्न जो अचेतन पदार्थ है जड़ है उसको भागना संभव नहीं है भागना तो चेतन भाग सकता है अचेतन कहां भागेगा ये भी संभव नहीं बाघादि नाम हस्ताधिपत वस्तु आदान असामर्थ्य तय जिगृक्षा अनुपत्ति बाघादि आदि जो इंद्रियां हैं हाथ आदि के द्वारा पकड़ने की इच्छा होती है किसी वस्तु को पकड़ने हाथ चाहिए हाथ से बाघ आदि इंद्रियों ने पकड़ने की इच्छा क्यों किया वहां कैसे होगा बाघ आदि के द्वारा पकड़ने की इच्छा कैसे होगी इंद्रिया कैसे पकड़ेगी वहां आया है बाचा अजीब वृक्षक ऐसा आया ये भी असंभव लगता है यथाश्रुतार्थ में सर्वम असंगतार्थम अर्थ माने प्रतीयमान अर्थ को लेकर के सारे के सारे असंगत दिखाई पड़ता है किंतु वेद को ऐसा करना नहीं उसका तात्पर्य कुछ और है इस बात में तात्पर्य समझना पड़ेगा ये कहते हैं तभी सर्वम अप्रमाणम वस्तु कश्चित शंकर कोई बोलता है फिर सब अप्रामाणिक बात है सारे ये सबके सब जितने भी बातें हैं प्रामाणिक नहीं है ऐसा शंका उठाता है कुछ लोग कहा अस्तु तरी सर्वम एवं इदम अनुपन्नम एक पूर्व पक्ष ने शंका उठाई ठीक है सब गलत है सारा जो भी कहा गलत है वही नहीं सकता बात है तो सिद्धांत जाएंगे न करके सिद्धांत कहते हैं टीका में बोलते हैं विवक्षितार्थे भी विषम मुंक्ष स प्रजापतिर आत्मनोपाम उदक्षित इत्यादि नाम विवाह प्रामाण्य संभव न अप्रामाण्यम न कश्चित भी उत्तम वेद को अप्रामाण्य करना ठीक नहीं है विवक्षित अर्थ में भी घट सकता है ये सारे काम कर सकते हैं विवक्षित अर्थ को लेकर विवक्षित अर्थ में जैसे विषम भूक्ष कहा जाता है माने अपने पुत्र को कोई मां बोले जहर खा ले विषम भूक्ष माने वहां पर शत्रु के घर में जाता था पड़ोस में पुत्र उसके निवारण के लिए निवृत्ति में तात्पर्य है शत्रु घर को नहीं जाना इसके लिए कहा गया जहर खाना बच्चों को जहर खिलाना इष्ट नहीं है अर्थवाद है निंदा में है पुत्र की निंदा करने क्यों जाता है शत्रुघ्न इस वाक्य के द्वारा निंदा हो रहा है अर्थवाद है विवक्षित वही है माँ माँ जो बच्चे को बोलती है पिसम मुख जहर खा लो अरे शत्रु के घर में न जाए कहने में तात्पर्य विवक्षित तो वहां ऐसा है विवक्षित अर्थ में भी विषम मोक्ष और दूसरा प्रशंसा में अर्थवाद वाक्य है निंदा में था विषम मोक्ष दूसरा है प्रशंसा में सर्व प्रजापति आत्मनोपाम उदक्षित उस प्रजापति ने क्या किया अपने ही चर्बी निकाल करके हवन किया कोई व्यक्ति अपने छाती फाड़ करके चर्बी निकाल के हवन नहीं कर सकता वो क्या यज्ञ की प्रशंसा के लिए बात माने यज्ञ ऐसी प्रशस्त चीज है यज्ञ में आहुति डाली प्रजापति वास्तव में किया नहीं है कोई एक एक की प्रशंसा में काम कर ये बात है सब प्रजापतिर आत्मोपमाम उदक्षिण बाबा मैंने चर्बी निकाला हाँ हवन करने के लिए ऐसा माने एक की महिमा है ये वास्तव में कार्य हुआ नहीं है ये प्रशंसा में अर्थवाद है पहले वाले निंदा में अर्थवाद अर्थवाद है किंतु उनमें ये न तो वो चर्बी निकालने में तात्पर्य है न विष खिलाने में तात्पर्य है तात्पर्य अन्यत्र है एक तो एक एक की प्रशंसा के लिए है और एक निंदा के लिए शत्रु घर जाने के लिए निंदा के लिए है शत्रु घर में निवारण के लिए कहा गया ये सम्मोक्ष तात्पर्य उधर है इसी प्रकार इन वाक्यों में भी तात्पर्य है ये बोलना चाहते हैं इत्यादि नामी भाई इत्यादि वाक्यों में जैसे विवक्षित अर्थ में तात्पर्य होता है यज्ञ हाँ, की प्रशंसा में तात्पर्य है वहां शत्रु घर के निवारण के लिए शत्रुगिरी और गमन का निवारण के लिए तात्पर्य होता है उस वाक्य का ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रामाण्य संभव है ना इस वाक्य में प्रामाण्य है संभव है विवक्षित अर्थ को लेकर के प्रामाण्य है इन वाक्य में इसलिए अप्रामाण्यम न अप्रामाण न अप्रामाण्यम अप्रामाण्यम कश्यचित अभी न युक्त हाँ, अप्रामाण्य किसी का भी युक्त नहीं होगा किसी वाक्य भी अप्रामण वेद में कहा विवक्षितार्थ है तो विधि विधिक सही तो ये सिद्धांत बोलते हैं विवक्षित अर्थ में कोई असंगति नहीं सब संगति लग जाएगी कैसे तो न करके सिद्धांत ने भाष्य में कहा न अत्र आत्म अवबोधार्थ मात्र से विवक्षितत्वात सर्वो अयम अर्थवाद है जितने भी कहा सृष्टि आदि लेकर के प्रवेश तक जो भी बताया सारे अर्थवाद है किसके लिए उसके माध्यम से आत्मा का ज्ञान कराना यही है अत्र आत्म अपबोधार्थम आप्रश्न तात्पर्य आत्मज्ञान करवाना एन के न प्रकार है आत्मा को ज्ञान करवाना श्रुति का तात्पर्य वह है इसमें तात्पर्य आत्मा अवबोध मात्रा अवबोधार्थ मात्र से विवक्षित होता है विवक्षित है श्रुति को इसलिए सर्वो अयम अर्थवाद इतना दोष इसलिए जो ये सारे के सारे बातें सृष्टि से लेकर के प्रवेश तक जो बताया सब अर्थवाद वाक्य है तात्पर्य है आत्मज्ञान कराने में तात्पर्य है सृष्टि में तात्पर्य नहीं है किसके माध्यम से आत्मज्ञान कराना तात्पर्य यह ठीक है देखें लोके स्वयं द्वारम कृत्वा अनेकेशु गृहेशु प्रविष्ट से देवदत्त से एकत्व दर्शनात् तद्वत आत्मा एकत्व यदि बोधयित विदारण प्रवेशन उच्यते एक, एवं सीमानम विदार्य एतया प्राप्त इस वाक्य का तात्पर्य क्या होगा लोक में देखा है कोई देवदत्ता भी एक व्यक्ति है क्या करता है अनेक घर बनाता है तो अनेक दरवाजा बनाया उसने बना करके अनेक में बारी बारी से प्रवेश करता है इसी प्रकार यहां आत्मा ने भी ये, ये शरीर बना करके प्रवेश किया एक ही आत्मा है दिखाना है लोके स्वयं भी द्वारा लोक में देखा है स्वयं दरवाजा बना करके अनेकेश गृहेशु प्रविष्ट से देवदत्त से एकत्र दर्शन अनेक घरों में प्रवेश करने वाला देवदत्ता एक होता है इसी प्रकार यहां भी तद्वत आत्मा एकत्व बोधाई तुम आत्मा एक ही है अनेक शरीर में प्रवेश करने वाला आत्मा एक ही है जैसे वहां अनेक शरीर घरों में प्रवेश करने वाला देवदत्त एक इस प्रकार आत्मा एक है अनेक शरीर में प्रवेश करने वाला तद्वत आत्मा एकत्व बोधाई तुम इति बोधाई तुम आत्मा एक ही है ऐसा सिद्ध करने माने करता आत्मा अलग प्रवेश करता आत्मा अलग नहीं है जैसे देवता घर बना करके घर में घुसता है तो देवता तो एक ही होता है घर में प्रवेश करने वाला और घर बनाने वाला एक ही होता है भिन्न नहीं होता है इसी प्रकार यहां भी सृष्टि करने वाला जो था वो ईश्वर रूप में था और प्रवेश करने के बाद में भिन्न नहीं वही चीज है एकत्व तो दिखाने के लिए इसलिए विदारण प्रवेश नहीं उचित इसलिए विदारण करना और प्रवेश करना मुर्दा को विदारण करके प्रवेश किया सत्य तदेवान प्राविशत आदि है तैतरी आदि ऐसा कहा इसीलिए कहा जाता है में प्रवेशन का तात्पर्य यही है वो एक ही व्यक्ति है भिन्न नहीं है सृष्टिकर्ता जो है वही प्रवेश करता है ठीक है न तो स्व अर्थ <clears throat> विदारण और प्रवेश में कोई तात्पर्य नहीं है स्व अर्थ माने विदारण प्रवेश कोई अर्थ नहीं प्रवेश विवक्षित नहीं विवक्षित तो यही है आत्मा एक है यह बदलाने में तात्पर्य है न तो स्व अर्थ विदारण और प्रवेश अर्थ यहां विवक्षित नहीं वास्तव में फाड़ा हो वास्तव में प्रवेश किया व्यापक आत्मा कहां प्रवेश करेगा ये तो वही आत्मा है करके दिखाना चाहते हैं क्योंकि तत्व तम आदि में तत्व ने दूर दृष्टि हो जाते तुम इधर हो जाता है तो एक दिखाने के लिए सारी क्रिया बताई ये कहा विवक्षित आत्मिक आत्मिकत्व तो बोधक वारतया उक्तत्व यहां पर विवक्षित है स्तृति को बोलना यही इष्ट है भक्तों इष्ट विवक्षित विवक्षित क्या है आत्मिकत्व तो बोधक वारतया आत्मा की एकता के ज्ञान के माध्यम बन जाते हैं सारे बताने पर सारा सृष्टि की सृष्टि करने के बाद में वही यहां प्रविष्ट हुआ या आत्मा हुआ आत्मा एक ही है सृष्टिकर्ता और एक है यही सिद्ध है करने की इच्छा है विवक्षित आत्मिकत्व बोध द्वारा तैयार विवक्षित जो आत्मा की एकता है इसके ज्ञान के माध्यम होने से ये सारी का सृष्टि प्रक्रिया इसके द्वार होने से माध्यम होने से भूतत्व होने से प्राशस्त्या प्राशस्त द्वारा तया उक्त बपा उत्खननादिवत जैसे सब प्रजापति और बपाम उदक्षित वाक्य आया उसका अर्थ किया प्रशंसा के लिए हो यज्ञ की प्रशंसा में तात्पर्य उसकी है उसी प्रकार प्राशस्त्यार्थ द्वारतया प्रशस्ति माने द्वार है वो प्रशंसा के माध्यम से उक्त बपो बपो उत्खनादिवत जैसे और बपाम उदक्षित आया अपने चर्बी निकाला या किसके लिए यज्ञ की प्रशंसा के लिए तात्पर्य उसी प्रकार यहां भी है परमात्मा एक ही है बदलाने में तात्पर्य है इसलिए अर्थवाद अर्थवाद एक करते सारे वाक्य अर्थवाद हैं अर्थवाद स्वार्थ में तात्पर्य नहीं रखते उसका तात्पर्य अन्यत्र होता है असत एव आदेर यह उक्तिर इति अंगीकृत तस्य गुणार्थवादत्व भपा उदखननादि वाक्यवत इति उक्वा अविनिर्म से भविष्य इत्यादि वत भूतार्थवादत्व अंगीकृत्या अभी गुणानुवाद बताया था विरोधे गुणवाद अर्थवाद तीन प्रकार के होते हैं जब विरोध होगा तो गुणवाद बोला जाता है और निश्चित प्रमाणांतर से निश्चित हो पहले से तो अनुवाद बोला जाता है अनुवादो आधारित भूतार्थवाद तद्धानात जहां पर विरोध भी नहीं है और प्रमाणांतर से कहा भी नहीं गया है उसको भूतार्थवाद बोलते हैं अर्थवाद स्त्रीधात्मता विरोधे गुणवाद अनुवादो बधारित है भूतार्थवाद तत्थाना जहां विरोध भी न हो और अनुवाद भी न हो विरोध भी नहीं अनुवाद भी नहीं उसको कहेंगे भूतार्थवाद तत्थाना तयोर हाना तत्थाना दोनों न हो जहां उसको कहते हैं भूतार्थवाद तो अभी तक जो कहा था कि उसमें तात्पर्य नहीं कहने के गुणवाद लेकर के कहा था असत एवं प्रवेशादेर न होता हुआ प्रवेशादि बोला वास्तव में प्रवेशादि हुआ ही नहीं परमात्मा का ये तो आत्मिकत्व तो ज्ञान कराने के लिए एक माध्यम पता है किसी प्रकार से उसका ज्ञान करवाना था इसलिए कहा वास्तव में प्रवेश आदि ने असता एवं नहीं हुआ प्रवेश आदि कहां प्रवेश होगा आत्मा का व्यापक है उससे भिन्न कोई वस्तु ने कहा प्रवेश होना ये तो सारी उस आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए कहा गया किसी प्रकार भी आत्मज्ञान हो जाए ये तात्पर्य सृष्टि में तात्पर्य नहीं असत एवं प्रवेश आदेर यह उत्तीर यहां जो कथन हुआ है असत प्रवेश आदि का वास्तव में नहीं वास्तविक प्रवेश नहीं उक्तिर अंगीकृत ऐसे स्वीकार करके अर्थवाद माना था गुणवाद माना था क्यों विरोध होता है जो क्या विरोध होगा व्यापक का कहां प्रवेश होना उससे भिन्न कोई है नहीं कहां प्रवेश करेगा विरोध है तो यहां गुणवाद है गुणवाद मान करके कहा था कहा अर्थवाद तीन प्रकार के गुणार्थवाद था ये गुणार्थवाद जैसे आदित्य युत ऐसे बोल दिया यज्ञ स्तंभ में खंबा गाड़ा गया है यज्ञ भूमि में उसको आदित्य शब्द का प्रयोग कर दिया ये सूर्य है खंबा कभी लकड़ी काष्ट कभी सूर्य हो सकता है क्या विरोध है प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है सूर्य नहीं है बोल रहा है और श्रुति बोल रही है आदित्य युवा श्रुति बोल रही है उस स्थिति में क्या होता है गुणवान आदित्य का जो गुण है इसमें है जैसे वो चमकीला है सुंदर है वैसे सौंदर्य इसका है इसमें तात्पर्य होता है तो यहां भी गुणवाद को मान करके गुणार्थवाद तुम बपा उत्खनन आदि वाक्य वाद ये जो बपा उत्खनन वाक्य गुणवाद है कभी भी अपना छाती फाड़ करके कोई बपा नहीं निकाल सकता लेकिन भवन करने के लिए तो प्रशंसा के लिए है गुणवाद है यज्ञ की प्रशंसा में तात्पर्य है यज्ञ यश महान है ये बदलाना तात्पर्य वहां तो ये गुणवाद था यदि उपवाद इतना अभी तक जो कहा अर्थवाद में से गुणवाद कहा था अथवा भूतार्थवाद मान सकते हैं इसको कहते हैं अब कहते गुणवाद में भूतार्थवाद मान सकते हैं कैसा अग्नि हिमस्य भेषदम इत्यादि वत भूतार्थवाद तो अग्नि से भेषदम अनुवाद होना चाहिए किंतु यह लिख दिया भूतार्थवाद कैसे होता है देखते हैं अभी अग्नि हिमस्य भेजनम कोई बोलता है ठंडी की दवाई है आग ऐसा बोलता अग्नि को ठंडी की दवाई कहा ठंडी आग दबाएंगे ठंडी भाग जाएगी अग्नि की दवाई तो ठंडी की दवाई है तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध को श्रुति बोल रहे अग्नि भेज भेषज ठंडी की दवाई अग्नि है उस स्थिति में श्रुति में क्या ब्राह्मण लाएंगे वो अथवा है कौन सा अर्थवाद है तो अनुवाद रूपी अर्थवाद होना चाहिए जो तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध का ही अनुवाद किया मानना होगा किंतु भूतार्थवाद माना कैसे माना है विचार करते हैं अग्निर्म से भेषजम गुणवाद होता है ये क्या है अनुवाद होता है वैसे किंतु इत्यादि पर भूतार्थवाद तो हमने कहा भूतार्थवाद मान करके कहा कैसे होगा तो टिप्पणी कार कहते हैं टीकाकार ने लिख दिया भूतार्थवाद होना चाहिए अनुवाद किंतु भूतार्थवाद कैसे हुआ टिप्पणी कार कहते हैं अग्निर हिमस्य इत्यादि अनुवाद है वह यह अनुवाद है भूतार्थवाद नहीं अर्थवाद अनुवाद है किंतु तो टीकाकार ने भूतार्थवाद किस अभिप्राय से लिखा होगा तब कहते हैं भूतार्थवाद अस्तु तो भूतार्थवाद होता है वो तो क्या होता है इंद्रो वृत्राय वज्रम उदक यक्षत ऐसा आया इंद्र ने वृत्रासुर के लिए वज्र उठाया वज्रम दान दान यक्ष आदेश हुआ वज्र का प्रहार किया ऐसा आया अब ये देखो विरोध भी नहीं होता कोई बाकी विरोध नहीं करता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आदि विरोध नहीं कर रहा है आदित्य युगों में विरोध था प्रत्यक्ष प्रमाण खंबे को विरोध कैसे आदित्य बोलेगा क्योंकि नहीं कोई विरोध नहीं कौन विरोध करेगा ये श्रुति में बोला अन्यत्र ऐसे चर्चा था ही नहीं विरोध भी नहीं ठीक है और अग्निर हिमस्य वैषजम आदि जैसा अनुवाद भी नहीं पहले से निश्चित हुआ हो प्रमाणांतर से ऐसा नहीं है यही वाक्य सुनकर करके पता लगता है कि इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र फेंका इंद्रो वृत्राय भद्रम उदच्छिदत ऐसा उदय उदयक्षत फेंका वज्र फेंका ऐसा है ये वाक्य से पता लग रहा है तो ये प्रमाणांतर से सिद्ध भी नहीं है प्रमाणांतर से विरोध भी नहीं है कोई अन्य प्रमाण विरोध भी नहीं कर सकता प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय ही नहीं क्या विरोध करेगा अनुमान का प्रमाण का विषय नहीं क्या विरोध करेगा इसको विरोध भी नहीं है और अन्य प्रमाण से सिद्ध भी नहीं है तो भूतार्थवाद ऐसा होता है जहां विरोध भी न हो और अन्य प्रमाणांतर से सिद्ध भी न हो उसको भूतार्थवाद कहते ये होता है भूतार्थवाद ये टीकाकार ने भूतार्थवाद इसको कैसे बोला होगा भूतार्थवाद वास्तव में यह है टिप्पणीकार बता रहे हैं भूतार्थवाद वस्तु इंद्रो वृत्राय वज्रम छत माने इंद्र ने या वित्तासुर के लिए वज्र प्रहार किया दाण दाने धातु आदि लग लगा प्रयोग किया है अयक्षत बना है अयक्षत अयक्षत प्रहार किया इत्यादि रूप इत्यादि रूप होता है भूतार्थवाद किंतु तथा यहां पर कैसे कर दिया होगा टीकाकार ने भूतार्थवाद पहले गुणवाद मान करके प्रशंसा के लिए तात्पर्य किया था तो भूतार्थवाद वास्तव सृष्टि हुई क्या कहते हैं तथापि अबाधिता अबाधित अबाधित अर्थत्व मात्र भूतार्थत्वक्ति इसका विषय का बाद नहीं होता है इसलिए भूतार्थवाद कह दिया गौण रूप है वास्तव में टीकाकार में जो भूतार्थवाद मुख्य नहीं गौण है अर्थ का दाद नहीं होता है इसलिए कहेंगे भूतार्थवाद ऐसा ये भूतार्थवाद मान करके कहते हैं मायावी कहते हैं मायावी में ना माया भी जो दिखाता है अपने स्वरूप को रूपांतर करके दिखाता है ऐसे परमात्मा ने अपने स्वरूप को रूपांतर करके दिखाया रूपांतर करके प्रविष्ट हुआ ये सब मायावी में धरता है ये दृष्टांत होता है यही कहते हैं मायावी बदबा भाष्य में कहा मायावी के समान जादूगर के समान जादूगर अकेला होता है जो जो भी हमारे सामने वो दिखाता है लीला दिखाता है उसके पूर्व अकेला होता है वो किंतु जब उसको लीला दिखाना शुरू करता है तो वही अनेक हो जाता है कभी चिड़िया बनेगा कभी हाथी बनेगा कभी घोड़ा बनेगा कभी अपना ही रूपांतर करके दूसरे जादूगर बन करके ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ता है अंत में वो एक ही होता है यही है एक ही व्यक्ति अनेक होकर के फिर एक होता है वेदांत की यही प्रक्रिया एक से अनेक बनाना अनेक को एक में विलय कर देना यही है यही प्रक्रिया है ये जादूगर में करता है अथवा माया भी बदवा जादूगर के समान महामाया भी है वो तो बहुत बड़ी माया है उसके पास तो ये छोटी माया वाला भी लीला दिखा सकता है एक ही अनेक हो जाता है क्यों उसके पास कुछ नहीं रहता अकेला होता व्यक्ति किंतु क्या क्या दिखाता है वही बना हुआ और क्या बना हुआ उसके पास कोई उपादान कारण भिन्न है ही नहीं वही बनता है वही बनाता है जादूगर यही होता है और क्या होता है बनाने के लिए मटेरियल लाता नहीं वो जो हमारे सामने सांप दिखाता है कबूतर दिखाता है क्या क्या दिखाता है कहा उसके पास कुछ नहीं होता बनने वाला भी हुए बनाने वाला भी हुए ये सटीक दृष्टांत होता है विवर्तवाद के लिए माया भी बदमा महामाया देव देव जो ये देव जो आत्मदेव जो है महामाया भी है सर्वज्ञ भी है सब जानता भी है वो हाँ, कब क्या करना है कैसा बनाना है क्या करना सब पता है किस कर, कैसा करने से क्या होता है क्योंकि जादूगर भी जानता जानकार होता है जो जो वस्तु बनाने का उसके दिमाग में होता है ये बनाऊंगा ऐसा ऐसा बनाऊंगा तो दर्शकों को दिखाने के लिए सोचता है तो ये सर्वज्ञ है वो अल्पज्ञ व्यक्ति भी कुछ कर सकता है तो ये सर्वज्ञ है और सर्वशक्ति है सर्वा शक्त यश सारी शक्ति जिसमें जब उसके कार्य होता है तो पता लगता है कि ऐसे भी कर सकता है शक्ति थी सर्वम यथ चकार ये सब कर दिया सारी सृष्टि आदि कर दिया उसने और प्रवेश आदि भी हो सकता है माया भी जैसे प्रवेश कर सकता है उसी प्रकार कर सकता है किस लिए सारे कहानी कहा सुख अवबोधन प्रतिबद्ध हम सुखपूर्वक ज्ञान हो सके श्रोता को कहानी के माध्यम से कुछ समझ में आ जाता है केवल अद्वैत अद्वैत बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ये कहानी के माध्यम से है लोकवद आख्यायिका भी प्रबंधक लोक में जैसे किसी बातों को पुष्टि करते हैं तो कहानी के माध्यम से करते हैं तो समझ जाता है सामने वाला और सीधा ऐसे बोलेंगे तो समझता नहीं इसके लिए लोक में जैसे है ये इस प्रकार कहानी बनाई कहा युक्ततर पक्ष ठीक पक्ष यह होगा अच्छा पक्ष भी यही होगा मायावी के दृष्टांत देकर के करना ठीक होगा तो कहा मायावी ने जहां बनाया कुछ बनाई नहीं बाद में ऐसे तो होता है फिर लगा दी कुछ नहीं हुआ ऐसा हो जाता है ऐसे यहां भी है ठीक है देखिए भी कहा मायावी बलवा माया अघटितम अपनी सर्वम उपवत्य ये नियम है माया से जो होना नहीं चाहिए वो भी हो जाता है जादूगर में देखा है सामान्य जादूगर में तो हमने देखा ही है अब एक ही व्यक्ति आया एक धागा ऐसे करके धागा फेंकता है धागा भी नहीं उसे बाढ़ हमारे दर्शकों के लिए हो जाता है धागा फेंका और उसे में चढ़ के ऊपर गया एक यहां है और एक ऊपर गया हुआ है पहले एक ही था अब दो हो गए वो ऐसा दिखता है तो दूसरा रूपांतर जो बना उसी ने बनाया वही बना और कौन है वहां कोई है नहीं ऊपर जाने के बाद में करता है लड़ाई हो रही ऊपर आवाज आने लग गया आपके तलवार चल रहे ऊपर ऐसा आवाज आने लगता है बाद में हाथ पैर करते हुए गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं ऐसे भी दर्शकों के सामने ऐसा होता है सारा कालांतर में उसने वही एक ही माया भी वही दिखाई पड़ता है बोले ऐसा दिखाई पड़ता है तो इसी प्रकार यहां भी माया में शक्ति है माया या अघटितम अपनी सर्वम उपस्थित है माया के द्वारा जो होना नहीं चाहिए सर्व घटित हो जाता है जैसे देखा हाँ, लौकिक माया भी में देखा है वैसे यहां भी है माया है महा माया है तो अघटित है सारा ये होना तो संभव लगता नहीं घट जाता है माया के कारण अघटित घटकत्वा तस्या माया का स्वरूप है अघटित घटना पटीयसी जो होना नहीं चाहिए संभव नहीं है उस असंभव को संभव करने वाली को माया कहते हैं अघटित घटकत्वा तस्या तस्या मैंने माया आया माया का स्वरूप है अघटित घटित करने वाली ऐसी अनेना इस तरह से सृष्टि आदि अघटितार्थत्वा सृष्टि आदि जो घटने योग्य नहीं है किंतु सृष्टि दिख रही है बनना संभव नहीं एक ही व्यक्ति है सृष्टि के पूर्व अकेला है उपादान कारण नहीं है और उसके बाद कोई इंद्रिय आदि भी नहीं है तो सृष्टि कैसे होना असंभव लगता है इसलिए अनेर इसके द्वारा ये सिद्ध होता है सृष्टि आदि अघटित अर्थत्व सृष्टि आदि घटित होना संभव नहीं है वास्तव में इसलिए गंधर्व नगर आदिवत मृषात्म यही सिद्ध होना है हम्म, जैसे गंधर्व नगर कहते हैं बादल बादल के ऐसे बन गया नगर जैसा कभी हो गया उसको गंधर्व नगर बोल देते हैं वास्तव में है ही नहीं वो वैसे सृष्टि भी तो वास्तव में मृषा है गंधर्व नगर जो बादल का जो नगर दिखता है वास्तव में नगर है ही नहीं वो झूठा है हवा आया खत्म हो जाएगा वैसे सृष्टि आदि भी ऐसे गंधर्व नगर समान है वृषा है झूठा है मिथ्या है वास्तव में ये सिद्ध होता है तो ये सृष्टि को बदलाने में तात्पर्य नहीं है ये न प्रकार आत्म का ज्ञान कराने का तात्पर्य बाकी है ये समझना है कहा वृषात्व एवं गंधर्व नकार समान सृष्टि आदि का कथन झूठा ही है मिथ्या है यही कहने के लिए स्पष्टीकर्तुम एक स्पष्ट करने के लिए अघटितम अपनी सृष्टि आदि कम श्रुतिया दर्शन होना तो नहीं चाहे घटना संभव में ऐसे को भी श्रुति ने दिखाया तो कहा आगे पूर्वादि शंका उठाता है नो आत्मा अवबोध से विवक्षिता तरी साक्षात एवं सौच्यताम की माने प्रथा प्रबंधन आत्मज्ञान कराना ही स्मृति को यदि इष्ट है तो साक्षात आत्मज्ञान करा दे ये सारी कहानी बना करके स्मृति के कथन करके क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ये शंका है नानो आत्मा अवबोध से विवक्षिता विवक्षित अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान कराना ही इष्ट है तो तरी तब तो साक्षात एवं सौच्यता साक्षात आत्मज्ञान को ही बताओ ना आत्मज्ञानी कहो तो किम अन वृथा प्रबंधन है सारा ही विस्तार करके क्या फायदा सृष्टि आदि की ये शंका उठी ये शंका का उत्तर देते हैं कहा दो और तीन की टिप्पणी में कहा दो में कहते हैं साक्षात आख्यायिका अद्वारी कृत्य कहानी को द्वार बनाए बिना कहो ना सीधा आत्मज्ञान बोलो आत्मबोध बताओ क्यों कहानी का माध्यम बनाया सृष्टि आदि प्रबंध क्यों कहा अनेर मैंने आख्यायिक आत्मा ने कहानी के रूप से सृष्टि आदि के अघटित दिखाने के क्या मतलब हुआ ये पूर्वाज में शंका की अच्छा तो सिद्धांत कहते हैं सुख अवबोधन प्रतिपत्त सुखपूर्वक ज्ञान हो सके श्रोता को कहानी के माध्यम से कहानी से बातें बढ़ जाती हैं इसके लिए टीका में कहते हैं अपबोधन माने प्रतिपादन सुखपूर्वक प्रतिपादन हो सके इसके लिए कहानी के माध्यम से कहा अपबोधन में प्रतिपादन सुखे न वक्तु प्रतिपादनाथम सुखे न श्रोतु प्रतिपत्त कहानी के माध्यम से वक्ता के लिए भी आराम से माने विषय के प्रतिपादन कर सकता है कहानी के माध्यम से श्रोता को भी कहानी के माध्यम से समझ में आ जाती बात दोनों के लिए फायदा है इसमें ये कहा अवबोधन मैंने प्रतिपादन सुखे न वक्तु प्रतिपादनाथम वक्ता को क्या होगा सुख पर वो प्रतिपादन हो जाएगा कहानी के माध्यम से और सुखे न श्रोतु श्रोता को भी आराम से ज्ञान होगा इसके लिए है ये कहानी बताई टीका में शंका करते हैं नो लोक सृष्टियादेर मानांतर अगोचरत्व अगोचरत्व अपूर्वत्व तत्परत्व एवं आख्यायिकाया अस्तु इति आशंका पूर्वादी शंका करता हमारा लोक सृष्टि जो कही गई है प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध तो है नहीं अज्ञात ज्ञापकों पेरा वेद में प्रामाण्य क्या अज्ञात ज्ञापकत्व प्रामाण्य अन्य प्रमाण के जो विषय न हो ऐसे विषय को बताने वालों को बता करके प्रामाण्य आता है वेद अन्य प्रमाण का विषय न हो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति किसी का भी विषय न बना हो अनुपलब्धि आदि का केवल वेद के द्वारा ही सिद्ध होगा तो उसको कहते हैं वेद में प्रामाण्य तो लोक की सृष्टि के बारे में अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध होने वाला नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध नहीं है तो क्या है वेद के द्वारा ही सिद्ध होना है इससे मतलब वो भी क्या होगा लोक सृष्टि में प्रामाण्य होगा क्यों अज्ञात ज्ञापक के तो द्वारा प्रामाण है ये पूर्वादि की शंका है नमो लोक सृष्टि आदि लोक सृष्टि आदि मानांतर अगोचर अन्य प्रमाण का विषय नहीं है वो माने वेद को छोड़कर शास्त्र को छोड़कर शास्त्र से जाना जाता है लोक की सृष्टि हुई है बाकी कौन प्रमाण बताएगा प्रमाणांतर का विषय न होने से अपूर्वत्व ये अपूर्वता है उसमें लोक सृष्टि अपूर्व है अपूर्व होने से अन्य प्रमाण का विषय न होने से तत्परत्व में हाँ, तत्परत्व माने चार में कहा माने वास्तविकता होगी अन्य परत्व नहीं अर्थवाद नहीं सृष्टिपरक वाक्य है ऐसा चार प्रवृत्ति मैंने कहा तथा च न सृष्टियादि मिथ्यात्म ये तत्परता है उसको बदलाने में इष्ट है तो फिर झूठा नहीं सृष्टि झूठी नहीं मिथ्या नहीं स्वदिष्टम तो सिद्ध इसलिए आपके जो इष्ट है सिद्ध नहीं होगा पूर्वाज ने शंका उठाएंगे ऐसा कहा ऐसा शंका करके आख्यायिका आख्या उसके तात्पर्य सृष्टि आदि में तात्पर्य है तो आपके इष्ट सिद्ध नहीं होगा आप सृष्टि वास्तविक हो जाएगी ऐसा कहा तो सिद्धांत बोलते हैं अपूर्वत्व ठीक है अपूर्वता है सृष्टि अन्य किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है वेद से ज्ञात है अपूर्वत्व भी सृष्टि आदि में तब प्रतिपत्तियां फलाभावा उसके सृष्टि के ज्ञान से कोई फल नहीं है यद्यपि अपूर्वता उसमें है फिर भी सृष्टि के ज्ञान से कोई फल नहीं है तब प्रतिपत्तिया फलाभावा उस सृष्टि के ज्ञान से कोई फल न होने से फलवती अज्ञाते श्रुते तात्पर्य नहीं केवल अज्ञात में श्रुति का तात्पर्य नहीं फलशाली जो अज्ञात हो उसमें श्रुति का तात्पर्य था फलशाली भी हो और अज्ञात भी हो उसमें तात्पर्य था श्रुति का खाली अज्ञात का तात्पर्य नहीं होता है अज्ञात ज्ञाप को भेद इतना नहीं होगा अज्ञातत्व सती फलशालित्व इसमें प्रामाण्य होता है ये सिद्धांत है अज्ञात होता हुआ प्रामाण्य होना चाहिए अज्ञातत्व सती तात्पर्य फलवती अज्ञात है फलवत फलवान होता है वो अज्ञात होना चाहिए उसमें तात्पर्य होता है वेद का खाली अज्ञात में तात्पर्य नहीं होता फलशाली जो अज्ञात होगा उसमें तात्पर्य होने से तात्पर्य नियमात का अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे जहां जहां अज्ञात हो उसमें तात्पर्य मानने लग जाएंगे फलशाली न होने पर भी ऐसी स्थिति में अर्थवाद वाक्य आता है रुद्र रोदनादेर अपनी अपूर्वत्व स अरोदित ऐसा वाक्य आया तो रोया तो सब रोया माने तेर रुद्र से रुद्रत्व इसलिए रुद्र को रुद्र कहते हैं रोया है वो ऐसा बात क्या है अथवा तो उसका तात्पर्य क्या होता है बरिश नाम के एक यज्ञ होता है उसमें चांदी का दान नहीं करना चाहिए बरिशी रजतम नदेयम ऐसा उसमें तात्पर्य है बरिश बरी नाम का एक एक है उसमें चांदी का दान नहीं करना चाहिए उसमें तात्पर्य उसका वो तो रुद्र रोने का तात्पर्य नहीं है अगर अज्ञात मात्र में तात्पर्य मानते हैं तो रुद्र रोदनादेर भी सरोदित इत्यादि वाक्य आता है रुद्र का रोदनादेव अपूर्व वो वेद से ही पता लगता अन्य बात पूर्व पता नहीं लगता अपूर्व होने के कारण तथा भी तात्पर्य पत्य सर्वोदित में भी तात्पर्य आना चाहिए रुद्र गोया में तात्पर्य नहीं है वरिष्ठ नाम के याद में रजत दान न करे उसमें तात्पर्य होता है वाक्य एक वरिष्ठ नाम का याद होता है उसके लिए न सृष्टि आदि तात्पर्य होता है इसलिए सृष्टि आदि में तात्पर्य अज्ञात होने मात्र से वेद का तात्पर्य नहीं होता है वेद का तात्पर्य कहाँ रहता है अज्ञात होता हो फलशाली हो उसमें तात्पर्य होता है ये कहा पांच नंबर टिप्पणी सरोदित स्वरोदित इत्यादि है न इत्यर्थ स्वरोधित कहा है वो रोया ऐसा आया ये बाकी में तात्पर्य रोया नहीं किंतु बरिश याद में रजतदान न करे बरिशी रजतम न दे बाकी आता नहीं उसमें तात्पर्य अच्छा <clears throat> इसलिए कहा नहीं ये भाषण में कहा नहीं सृष्टिया सृष्टि आदि परिज्ञानात केंद्रित फल निश्चित है सृष्टि आदि के कहानी से कोई फल नहीं मिलने वाला है उसके जानकारी से परमात्मा ने सृष्टि किया सृष्टि हुई उसे कोई फल मिलने वाला नहीं है नहीं सृष्टिया सृष्टि आख्यायिका आदि परिज्ञानात कृषि के कहानी आदि के ज्ञान से न किंचित फल निश्चित कोई फल इष्ट नहीं हाँ फल किससे होगा एकात्म स्वरूप परिज्ञानात् तो अमृतत्व फलम सर्वोपनिषद प्रसिद्धम आत्मा की ऐक्य ज्ञान हम ब्रह्मास में ऐसा ज्ञान जो सृष्टि कर रहा था वही मैं हूं ऐसा ज्ञान हो जाए क्यों भिन्नत्व माना हुआ है सृष्टिकर्ता को अनुमाना माना है अपने को अलग मान बैठा है वही मैं हूं ऐसा ज्ञान होगा एकत्व एकात्म स्वरूप परिज्ञान अहम ब्रह्मास्म ऐसा ज्ञान यदि हो जाए ऐसे ज्ञान से तो अमृतत्व अमरत्व मोक्ष जिसको बोलते हैं यही फल मिलता है आत्मा की ऐक्य ज्ञान से फल मिलता है मोक्ष फल अमरतत्व फल सर्वोपनिषद परिषद केवल एक ऐतरोपनिषद की बात है सारे उपनिषद में यही है ऐकात्म ज्ञान से ही फल होता है अमृतत्व मिलता है सृष्टि के परिज्ञान से कोई फल मिलने वाला नहीं इसमें तात्पर्य नहीं सृष्टि में कहीं भी तात्पर्य होता है कहा स्मृति सूचा गीताभ्यासु समम सर्वेश भूतेषु तिष्टांत तत्पर इत्यादि मृत्यु में भी ऐसे कहा तात्पर्य वह आत्मा एक के ज्ञान में तात्पर्य बताया है ये बताया टीका कहा सारे स्मृतियों में कहा कहां कहां कहा होगा एक नमूना दो चार दृष्टांत देना चाहते हैं एतावत अरे खलु अमृतत्व या केवल के दिन मैत्री का इतना ही तो अमृतत्व है मैत्रेयी तो आत्मा भाव पर रहना यही अमृत है ये कहा एतावत अरे फलु अमृतत्व यही अमृतत्व है कहा तम एवं विद्वान अमृता यह भगवती अन्य श्रुति में कहा है तम आत्मान एवं विद्वान ऐक्य रूप से जानने वाला जो व्यक्ति अमृता भगवती वो यह अमृत जीते जी अमर हो जाता है जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य समझता हो हम ब्रह्माष्टमी जान गया हो ऐसे व्यक्ति जीते जी अभी इसी में इसी शरीर में अमृता भगवती माने अमर हो जाता है विद्वान अमृता समवती इत्यादि श्रुतियां हैं जो आत्मव्यता अमर हो गया ऐसा वाक्य है विद्वान माने आत्मव्यता अमृता समभवत अमृत हो गया अमर हो गया इत्यादि सु ज्ञानाद अमृतत्व प्रसिद्धम ज्ञान से ही अमृतत्व की प्रसिद्धि है सृष्टि के परिज्ञान से कोई आत्मज्ञान से अमरत्व की प्रसिद्धि है न कि सृष्टि के ज्ञान से इसलिए सृष्टि में कोई तात्पर्य नहीं है गीता में कहा समम सर्वेश भूतेषु इति अनैना ऐकात्म भूतवा समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठम तम परमेश्वरम विनश्यत स्विनश्यंतम यह पश्य सब पश्य एक ही परमात्मा को सर्वत्र देखने वाला समम सदेश भूतेषु तिष्ठम तब सारे प्राणी में रहने वाला समान रूप से रहने वाला विनश्यु प्राणीशु प्राणी सब नाश होने वाले हैं अविनश्यंता विनाश न होने वाला जो देखता है विनश्य अविनश्यंतम या पश्यति सब जो ऐसा देखता है वही देखता है बाकी सब अंधे हैं माने सर्वत्र एक ही आत्मा जो देखता है वही देखता है माने विनश्यत्सु प्राणीशु प्राणी शरीर आदि नष्ट होते हैं किंतु आत्मा नष्ट नहीं होता ऐसा आत्मा सारे प्राणी में एक ही आत्मा देखता है एकात्म भाव की पुस्तक है एक ठीक है ठीक है जाने समम सर्वेश भूतेशु इधाने ना एकात्म रूपवा एकात्म बताकर और भी कहा है समम पश्चन सर्वत्र समवस्थित में स्वरम नस्ते आत्मनात्मान तथो यादि पराम ये भी कहा हुआ है समम पश्चन सर्वत्र सर्वत्र समान देखना समान में आत्म आत्मदर्शन करना तो समान परमात्मा का है समम पश्चिम सर्वत्र सर्वत्र समान देखता हुआ समम पश्चिम सर्वत्र समवस्थित ईश्वर सर्वत्र व्यवस्थित ईश्वर को देखना नयनस्त आत्मात्मान तत्वजाति पराम उसके बाद अपने स्वयं से स्वयं की हिंसा नहीं करता फिर मैंने अपना कल्याण कर जाता है तत्वजाति पराम ऐसा वाक्य है कहा आत्मा यदि ज्ञानाद अमृतत्व होता गीता में भी ज्ञान से आत्मा एक ज्ञान से ही मोक्ष की कथन किया है अमृतत्व बताया है कहा छह सात की टिप्पणी छह में कहते हैं समम सर्वेश भूतेश में आगे तिष्ठंतम परमेश्वरम लगाना पड़ेगा कहा तिष्ठंतम परमेश्वरम विनश्यत स्वविनश्यंतम यह परिस्थिति सप्रेश आगे बात यह शेष है टिप्पणी कारण जोड़ दी सिस्टम ये शेष है कहा दूसरे में समम पश्चिम सर्वत्र में देते हैं सर्वत्र इति अनंतरम समम पश्चिम सर्वत्र इतना तो दिया टीका में इसके आगे कहते हैं समवस्थितम ईश्वरम इति द्वितीय पाद दृष्ट द्वितीय पाद है समवस्थितम ईश्वरम आगे न ही नस्त्यात्मनात्मान तत्व यादि परागति में ऐसा आएगा तत्व यादि परागति में तुरीय चतुर्थ पाद वो है उस श्लोक का ऐसे बताया आगे टीका में कहते हैं इत्यादि स्मृति सच कहा और इत्यादि से क्या लेना आदि से कहा यह ज्ञातवा अमृतम स्मृति ऐसा भी है जिसके ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति करता है ज्ञेयम यद प्रवक्ष्यामी यज्ञात ज्ञातवा अमृतम स्मृति अनादि मत परम ब्रह्म न सप्तम सुनते त्रयोदश अध्याय में कहा अमृतम अस्मृत जिसके ज्ञान से अमरत्व की प्राप्ति कर मोक्ष प्राप्त करता है जिसके ज्ञान से ऐसा बताया वह आत्मज्ञान आत्मा की चर्चा है ये भी बताया और भी कहा है कहते हैं अन्यत्र भी कहा है सोहम सचत्व सच तत् आत्मा स्वरूपम त्यज भेद मोहम इति ऋतस्ते न सदा जबर्य तत्याज भेदम परमार्थ दृष्टि श्रीमद भागवत में पंचम स्कंद में जड़ भरत जी ने रघुगण के उपदेश दिया है रघुगण के उपदेश में कहा पंचम स्कंद श्रीमद भागवत का श्लोक सो हम वही मैं हूं स हम ओ मैं हूं और सच तुम तो तुम भी वही हो जड़ जा रहे हैं सो हम वही परमात्मा मैं हूं मेरे में उसमें भेद नहीं सच तुम तो तुम भी वही हो दो हो गया और दूसरा अहम तुम सत सर्वे ये सब देखा हुआ ये भी सब वही है मारे जगत भी वही है तुम भी वही हो मैं भी वही हूं उससे भिन्न कुछ भी नहीं तीन ही तो हो गए तुम अहम और इदम यही तो है सोहम वही मैं हूं सचत्वम वही तुम हो और सच सर्वम ये तब वही सभी कुछ वही है आत्मस्वरूपम त्यज भेद मोहम आत्मस्वरूप ही है सत्य सब मोह को त्याग दो भेद रूपी जो मोह तुमने अपनाया है मैं अलग हूं या अलग है अलग है भेद रूपी को हटा दो ये कहा इति ऐसा कहा गया जड़ भरत के द्वारा कहा गया तेना मान जड़ भरतेना इति जड़ भरत के द्वारा कहा गया सराज सराजवरिया जो रघुवन राजा है सहुर देश से आया था ज्ञान सीखने के लिए वो जो रघुवन राजा तत्याज वेदम परमार्थ दृष्टि परमार्थ दृष्टि सर परमार्थ दृष्टि होता हुआ उसकी दृष्टि खुल गई परमार्थ दृष्टि में गया तो वेद बुद्धि को त्याग दिया तत्याज लेट लगा कुछ रघुवन ने वेद वृक्ष को त्याग दिया ऐसा आया टिप्पणी देते हैं आठ की इसमें भी सोहम इत्यादि एक समस्तम इत्यादि एक समस्तम इतिहास किंचित तदुच्यतो नाति परम तदन पूर्वार्धम यह सोहम के पहले पूर्वार्ध ऐसा है भागवत में क्या है एक समस्तम इतिहास किंचित तदुच्यतो नाति परम तदन्य ये पूर्वार्ध है उसके कहा एक समस्तम यदि यह हस्ते किंचित यहां जो कुछ भी वस्तु है वो एक ही है परमात्मा ही है तद तो अच्युत वो अच्युति है वो अच्युत से भिन्न कुछ भी नहीं है जो कुछ भी है अच्युति है एक समस्तम तद यदि यह अस्थि किंचित यहां जो कुछ भी है यदि वस्तु किंचित अस्थि तद अच्युतो परम नास्ति तद अन्य अच्युत से परे कोई वस्तु है ही नहीं सब अच्युत है न थी अच्युता जिसका कभी भी फिसलना नहीं होता है अपने स्वरूप में रहता अच्युत होता है वही है सब कुछ ऐसा कहा रघुगण राजम प्रति जड़ भरत उक्ति रियम ये जो भागवत का श्लोक है रघुगण राजा के लिए जड़ भरत वचन है ऐसा कहा टीका में कहते हैं यदि एकात्म उगता यह श्रीमद भागवत में भी एकात्म बताया इसे भी तात्पर्य है वेद का और भी अन्यत्र भी कहा है कहते हैं सचा विजाति स्मरणात् बोध तत्र भजम मंडप माघ इत्यादि विष्णु पुराण आदि शब्दार्थ आद्य शब्दार्थ है आदि शब्दार्थ है ये विष्णु पुराण में कहा है सचा विजाति स्मरणार्थ बोध वो जन्म से ही ज्ञान हो गया जिसको जाति स्मरण माने जन्म से ही ज्ञान प्राप्त हो गया ज्ञान के ख्याल आ गया तत्र जन्म अपपर अपपर्ग उसी जन्म में ही उसने मोक्ष प्राप्त किया ऐसा आया नौ की टिप्पणी है यम तो पराशर उठी मैत्रेय अक्षम प्रति ये पराशर ऋषि ने मैत्रेय के लिए सुनाया था ये कहानी किसी राजा के विषय में है इत्यादि कहा यह आदि शब्द से लेना बोलती है आगे टीका में एक शंका है आत्मकम एवं अश अध्याय से अर्थ है उत्तवा एतदेव स्थिरीकरण आशंका दें इस अध्याय का तात्पर्य पूर्व पूर्व अध्याय में जो कुछ कहा इस अध्याय में पूर्व अध्याय उसका तात्पर्य सारा आत्मा एक ही आत्मा है दिखाना है और कोई नहीं जादूगर का दृष्टांत है वो एक ही होता है अनेक बनता है फिर एक ही हो जाता है एक ही आत्मा है सब कल्पना हुई है ऐसा आत्मैकम एवं अश्य अध्याय से अर्थ इति उक्ता उक्तवा इति का ऐसा कह करके पूर्व में ये बातें हो गई तदेव स्थिरीकत्व आशय उसी को तत्व के स्थिर करना है इसके लिए शंका उठा करके समाधान के बाद जो उसी बात को पुष्टि करेंगे आत्मा एक ही आत्मा है अन्य कोई सृष्टि आदि कुछ भी नहीं ऐसा बदलाना चाह रहे हैं तदेव स्थिरी हो गया तत्व को स्थिर करने के लिए आसन जैसे अब शंका उठाई जाती है शंका करता है पूर्वादी फिर सिद्धांति उत्तर देंगे इसका शंका के माध्यम से समाधान कराएंगे कोई आत्मिकत्व स्थिर स्थिर करेंगे एक ही आत्मा ही है बाकी सृष्टि आदि नहीं ऐसा एक बताना है तो पूर्व पक्ष शंका उठाता है भाष्य में मौन करके मनो त्रय आत्मा ना महाराज आत्मा एक कैसे आप बोलते हैं यह एक एक ही आत्मा है कैसे एक आत्मा तीन आत्मा प्रसिद्ध आत्मा तीन है आत्मा तीन होता है मनो त्रय आत्मा भोक्ता कर्ता संसारी जीव एक एक है कर्ता भोक्ता जो संसार में घूमने वाला जीव जिसको बोलते हैं एक आत्मा एक जीवात्मा जो कर्ता भोक्ता यहाँ कर्म करेगा उस शरीर में जाके फल भोगेगा कर्ता भोक्ता है संसारी है संसार में घूमने वाले संसारी है कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां तब तक शरीर में घूम रहा है ये एक आत्मा तो यह है और कैसा है यह आत्मा सर्वलोक शास्त्र पर प्रसिद्ध है लोक में भी प्रसिद्ध है शास्त्र में भी प्रसिद्ध है जी जीवात्मा लोक में भी प्रसिद्ध है शास्त्र में प्रसिद्ध है जीवात्मा एक प्रिय तो है और दूसरा है ईश्वर जो ईश्वर कहते हैं ईश्वरात्मा दूसरा आत्मा है यह अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान लोक देह निर्माण न न यथाशास्त्र प्रदर्शित पूर्व प्रासादादि निर्माण न तद विषय कौशल ज्ञानवान तत्कर्ता पक्षादि इव ईश्वर सर्वज्ञ जगत कर्ता द्वितीय चेतन आत्मा अवगंधते दूसरा एक आत्मा जाना जाता है वो अनुमान से जाना जाता है ईश्वर जीवात्मा तो प्रत्यक्ष अहम अहम होता ही है लोक में प्रसिद्ध है शास्त्र में कहा कर्ता बोलता जैसे तो कहा हुआ है इसको श्रोता आगोष्टा बहुत सारे शब्द हैं इसके लिए सिद्ध करने के लिए सुनने वाला वही तो आत्मा है जीवात्मा हाँ, शब्द करने वाला सुनने वाला श्रोता मनता मनन करने वाला सुनने वाला दृष्टा बहुत कुछ है इसके लिए शास्त्र में प्रसिद्ध है लोक में प्रसिद्ध है जीवात्मा दूसरा ईश्वर आत्मा अनुमान से सिद्ध होता है प्रत्यक्ष नहीं ईश्वर को कोई देख नहीं सकता प्रत्यक्ष होता है अनुमान से सिद्ध होता है क्या जगत रूपी कार्य जो है उसके कार्य देख करके लिंग के द्वारा जैसे कोई मकान बना हुआ देखा सुंदर मकान दिखाई दिया तो बनाने वाला जो तक्षर मान कारीगर होगा उसके सिद्धि हो जाती है क्योंकि कोई व्यक्ति के बिना ये बन नहीं सकता किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया इसको कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है इसी प्रकार ये वैचित्र जगत वैचित्र देख करके अनेक प्रकार के प्राणी हैं अनेक प्रकार के उनके लिए निवास स्थान और भिन्न भिन्न उपभोग के आहार आदि भोग्य वस्तु तैयार करने वाला कोई ना कोई है ऐसा इसके द्वारा सिद्ध होता है ये बोलते हैं ईश्वर के लिए शंका में है अनेक प्राणी कर्म फल उपभोग अनेक प्राणियों के कर्म का फल का उपभोग का जो स्थान होगा कर्मों का फल का भोग करना है प्राणियों ने अपने अपने कर्मों का तो अनेक अधिष्ठान एक ही अधिष्ठान में भिन्न भिन्न चाहिए चिड़िया के लिए घोसला चाहिए वृक्ष चाहिए मनुष्यों के लिए मकान आदि चाहिए मछली के लिए जल चाहिए कई प्रकार के चौरासी लाख हैं अनेक प्रकार के प्राणी हैं अनेक प्राणी कर्म उनके जो प्राणी भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हुए हैं उन कर्म के जो फल भी भिन्न भिन्न प्रकार का फल होगा उसके लिए योग्य स्थान आदि भोग्य स्थान बनाना है उपभोग योग्य अनेक अधिष्ठान वक्त अनेक अधिष्ठान भिन्न भिन्न प्रकार के आश्रय होगा कर्म फल भोगने के लिए कोई मनुष्य शरीर होगा कोई पशु शरीर होगा पक्षी शरीर होगा न जाने क्या क्या होगा इसलिए लोक रेह निर्माण है अनेक प्रकार के लोक जल है थल है आकाश है आदि लोक और देह भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर निर्माण उस फल भोगाने के लिए ऐसे लिंग के द्वारा मान हेतु के द्वारा कार्य के द्वारा यथा शास्त्र प्रदर्शित है शास्त्र में जैसे बताया ईश्वर के बारे में दृष्टांत है जैसे पूरा प्रासाद आदि निर्माण है ना मकान बनाता है शहर बनाता है कोई कारीगर उस जब मकान आदि देखा शहर आदि देखा आपने देखने पर क्या होता है किसी ने बनाया है अनुमान से सिद्ध होता है व्यक्ति आज नहीं देखने पर भी सिद्ध हो जाता है था नहीं तो कैसे बनाए पूरा माने मकान प्रासाद पूरा माने शहर और प्रासाद माने महा मकान आदि निर्माण लिंग ना इस निर्माण लिंग के द्वारा जैसे तद विषय कौशल ज्ञानवान उसको बनाने के लिए कुशलता का ज्ञान वाले का अनुमान होता है कोई कुशल व्यक्ति था बनाने वाला ऐसा अनुमान से सिद्ध होता है कारीगर तत्कर्ता वो जो मकान बनाने वाला तत्कक्ष आदि बड़े आदि कारपेटर आदि होते हैं जैसे अनुमान से सिद्ध होता है कार्य को लेकर उसी प्रकार ये जगत रूपी कार्य को देख करके प्राणियों के फल के उपभोग के अधिष्ठान बना हुआ है इसको देख करके ईश्वर सर्वज्ञ सबके कर्म फल को जानने वाला सर्वज्ञ है वो उसी प्रकार का अधिष्ठान बनाता है वो जगत करता जगत करता द्वितीय चेतना आत्मा होता है दूसरा चेतन सिद्ध होता है एक तो जीव और दूसरा ईश्वर ईश्वर अनुमान से सिद्ध होता है नैयायिकों ने स्पष्ट कहा दिया है ईश्वर प्रत्यक्ष विषय नहीं है कोई भी कार्य होता है तो उसके कर्ता से कर्ता का अनुमान होता है घट अभी यहां दिखाई पड़ता हमारे सामने घड़ा है तो कोई ने कोई कुलाल था तो बनाया कुलाल के बिना घट नहीं बन सकता मैंने पट दिखाई पड़ता है तो तंतु जरूर था उसको गुणकर जरूर था नहीं तो पट नहीं बन सकता ये कार्य है कार्य के द्वारा कर्ता के अनुमान से सिद्ध होता है वैसे जगत रूपी कार्य जगत कैसे कार्य नहीं कहते हैं देखो जगत कार्य कैसे जगत बनाने वाला कोई व्यक्ति तो होगा ना कैसे जैसे एक अंकुर आदि कार्य को देखें चना के दाने को आप चने के दाने को पानी में डाल देते हैं सायकाल आप चने के दाना है इतना काम तो आपने किया जीव ने कर दिया वो काम वो जीव ने कर दिया है किंतु रात भर वहां कोई क्रिया हो रही है अंकुर फूटने के लिए क्रिया हो रही है तो कोई वो क्रिया करने वाला कोई करता होगा वहां नहीं तो अंकुर फूटना नहीं चाहे अंकुर तो आपने फुटाया नहीं आपने तो पानी में केवल चने को डाल दिया है कितना काम आपने किया ये जीव का काम हुआ किंतु आगे वहां क्रिया हुई सुबह इतने लंबे अंकुर दिखाई पड़ते हैं तो अंकुर बनाने वाला कोई ना कोई है वहां छिटी अंकुराधिकम चक्रजन्यम पृथ्वी आदि है अंकुर आदि है अंकुर दृष्टांत है कोई ना कोई कर्ता से उत्पत्ति उत्पन्न है ये क्यों कार्य कार्य है ये घटाधिवक्त जैसे घट होता है कार्य है पर कर्ता कर्ता सिद्ध हो जाता है इस प्रकार कोई ना कोई करता है कौन करता है जो पता नहीं चलो कोई करता है रात में कौन आया बनाया पता नहीं कौन है अब जीव कर नहीं सकता इस कार्य को कोई भी कितने भी बड़ा वैज्ञानिक आय के योग बन जाए अंकुर फुटा नहीं सकता हो चने के दाने में अंकुर फुटाने की शक्ति किसी के पास भी नहीं वो प्रकृति को छोड़ना पड़ेगा वो काम उधर का ही है जीवों का काम नहीं हो सकता कितने भी बड़ा कारीगर बन जाए कोई भी आग के साइंस में जाए कुछ भी जाए नहीं कर सकेगा हाँ प्रक्रिया कर देगा पानी में डालने का काम कर देगा इतना तो करता ही है भाग्य अंगुर फुटा नहीं सकता तो उसी के द्वारा ईश्वर की अनुमान से सिद्ध करते हैं नैयायिका वैसे यहां भी पूर्ववादी बोलता है जगत रूपी लिंग है यहां कार्य है अनेक प्रकार के प्राणियों के लिए अनेक प्रकार के फल भोगने के लिए जो आश्रय बना देना उनके लिए उस फल भोगने योग्य शरीर बनाना है और उसके खाद्य पदार्थ भक्ष्य पदार्थ बनाना है तीन प्रकार से फल देना है उसके रहने का निवास किस लोक में देना मनुष्य शरीर मिल गया जल जल वरुण लोग मिल गया क्या काम करेगा वो उसको धरती चाहिए मछली का शरीर में मत्स्य शरीर मिला और धरती मिल गई वो भी बड़ा विचार उसके लिए जल चाहिए सर्वज्ञ है किस व्यक्ति ने कैसा काम किया है क्या शरीर देना है इसको किस रूप का फल देना है हाँ। निवास स्थान कैसा चाहिए उसको ये तीन प्रारब्ध कर्म तीन होकर के काम करता है एक तो निवास स्थान और एक शरीर और उसके मैंने अन्न आदि जो होगा भिन्न भिन्न अंग है सबके तो ये सब लोक निर्माण देखते हुए ईश्वर कल्पना से सिद्ध होता है अनुमान से सिद्ध होता है तो दूसरा ईश्वर होता है कहा और तीसरा वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा एक है ये तो बात जो निवर्तन थे अपराध सह जहां से मन वाणी वापस हो जाते पहुंच नहीं पाते हाँ, वो आत्मा ब्रह्म एक आत्मा वो है निर्विशेष आत्मा निराकार आत्मा जो वेदांति लोगों का आत्मा होता है यथोवाचो तो दे नेति नेति इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध औपनिषद पुरुष तृतीय उपनिषद में ही जिसको उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होता है उसको औपनिषद बोलते हैं शेष शेष सूत्र से अनुप्रत्य होता है उपनिषद भी प्रतिपाद्य इति औपनिषद उपनिषद के द्वारा ही जिसका प्रतिपादन होता है अन्य कोई प्रमाण काम नहीं करता हो उसको औपनिषद बोलते हैं औपनिषद पुरुष है तो तृतीय आत्मा है तो एक ही आत्मा करके आप बोल रहे थे अभी एक ही आत्मा सिद्धि के लिए ये सारी सृष्टि आदि है उसके कोई तात्पर्य नहीं बताया एक ही आत्मा का तीन आत्मा है एक जीवात्मा है एक ईश्वर है एक निर्गुण निर्विशेष निराकार आत्मा वेदांत प्रतिपाद्या तीन आत्मा है ये शंका है माने ये शंका उठा करके सिद्ध करना उसी को एक ही आत्मा है सिद्ध करना है ये शंका उठाई कहा समय हो गया है यह रखते आगे फिर ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनोमी वाची आविराविर्भयभिवेदश्च मानन्तः कृतं मे माशीरमेनागीतेनावरात्रान् सन्तरामि कृतं वदिष्यामि अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्ता